और अल्लाह तुम्हारे लिए आयात खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है